Osho, Yog Nay Ayam, talks given in Pune, India, discourse number 5, फिर थोड़ी सी बात शुरू कर पत्र में बड़ी महत्वपूर्ण बात जो वैज्ञानिक बड़ी बात उन्होंने कहा कि मनुष्य के जीवन का विकास इन नई चीजों का संवर्धन नहीं नथिंग न्यू एवरेज वर्ल्ड कुछ पुरानी बातों का गिर जाना ओल्ड मनुष्य के विकास में कुछ जुड़ा नहीं मनुष्य के भीतर जो छिपा है किसी चीज प्रकट होती है तो सिर्फ बीच की बाधाएं अलग होती है पशुओं में और मनुष्य में विचार करें तो मनुष्य के भीतर पशुओं से कुछ ज्यादा नहीं बल्कि कुछ कम पशु के ऊपर जो बाधाएं हैं वे मनुष्य से गिर गई है और पशु के भीतर जो छिपा था वो मनुष्य से गलत हो गया एक बीज में और फूल में फूल में बीज से ज्यादा नहीं कुछ कम ये बहुत उलझा मालूम होता है लेकिन यही है बीज में जो बाधाएं थी वे गिर गई है वो फूल कलर हो गया है पौधों में पशुओं से कुछ ज्यादा है बाधाएं ज्यादा है हिंद्रेंसेस ज्यादा है वे गिर गए तो पौधे पशु हो जाएंगे पशुओं की बाधाएं ले जाए तो पशु मनुष्य हो जाएंगे मनुष्यों की बाधाएं गिर जाए फिर तो उसका नाम परमात्मा अगर समस्त बाधाएं गिर जाए तो आज लोग की बाधा में पूरी तरह प्रकट हो जाए तो उस शक्ति को हम जो भी नाम देना चाहिए आत्मा परमात्मा या कोई भी नाम लेना चाहे तो भी चल जाता है मनुष्य में भी अभी बाधाएं मौजूद हैं इसलिए मनुष्य के विकास की अभी संभावना है बाधिपन को अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है लेकिन उसका वक्तव्य ठीक वैसा ही है उसका पच्चीस वर्ष पहले जोखिम ने अपने ज्ञान की घटना से समय दिया जिस दिन बुद्ध को पहली बार ज्ञान हुआ तो लोगों ने उनसे पूछा आपको क्या मिल गया है तो बुद्ध ने कहा मुझे मेरा कुछ भी नहीं है जो मेरे ही भीतर था वो प्रकट हो गया है मुझे मेरा कुछ भी नहीं जो मेरे ही पास था मुझे ज्ञात हो गया है मुझे मेरा कुछ भी नहीं जो मैं था भी और जिसके प्रति मैं सोया था उसके प्रति मैं ज्ञात गया बल्कि बुद्ध ने ये भी कहा कि तुम्हें मैं ये भी कह दूं कि कुछ मेरे पास था जरूर जो खो गया है अज्ञान था वो खो गया ना समझी थी वो खो गई और जो मुझे मिला है अब मैं कह सकता हूं कि वो मेरे पास खाली लेकिन सिर्फ मैं अपरिचित था बाटिसन और बुद्ध के वक्तव्य में फर्क नहीं लेकिन बाटिसन का वक्तव्य मनुष्य पिछले हुए प्राणियों के संबंध में दिया गया है और बुद्ध का वक्तव्य मनुष्य से आगे गए व्यक्तित्वों के संबंध में दिया गया ध्यान की प्रक्रिया आपको किसी नए जगत में नहीं ले जाती सिर्फ उसी जगह से परिचित करा देती है जहां आप जन्मों जन्मों से हैं ध्यान की प्रक्रिया आप में कुछ जोड़ती नहीं कुछ गलत काट देती है गिरा देती है समाप्त कर देती एक मूर्तिकार को कोई पूछ रहा था कि तुमने ये मूर्ति बहुत सुंदर बनाई उस मूर्तिकार ने कहा मैंने बनाई नहीं मैं तो इस रास्ते से गुजरता था और इस पत्थर में छुपी मूर्ति ने मुझे पुकार लिया मैंने जो व्यर्थ पत्थर इसमें जुड़े थे उन्हें पर अलग कर दिया और मूर्ति प्रकट हो गई मैंने कुछ जोड़ा नहीं सिर्फ गहराया बेकार पत्थर जो मूर्ति के स्थान पर जोड़े थे उन्हें मैंने छाट दिया और मूर्ति को मनुष्य के भीतर जो छिपा है कुछ गलत जोड़ा है उसे काटने में से गलत होता है परमात्मा मनुष्य से भिन्न नहीं है मनुष्य के भीतर छिपी ऊर्जा न की नाम लेकिन जैसे जैसे उसमें बहुत मिट्टी मिट्टी का सोने थोड़ी मिट्टी छत करके सोने तो ध्यान के संबंध में पहली बात जो मैं आपको कहूँ वो ये कि आप अपने ध्यान के विकास में अंतिम क्षणों में भी जो होंगे वो आप अभी इस क्षण में भी ध्यान आप में कुछ जोड़ नहीं जाएगा सिर्फ घटा जाएगा आपसे कुछ गलत को काट जाएगा कुछ गलत को अलग कर जाएगा और जो सार्थक है वो पूरी तरह से स्वगत होने की सुविधा पा सकेगा केवल समथिंग न्यू एडिट नहीं कुछ नया जुड़ेगा सिर्फ पुरानी बात होने के इन बाधाओं को गिराने के लिए जो प्रयोग हम साधन में करने वाले हैं वो बहुत वाइटल बहुत प्राणवान प्रयोग और जो लोग भी जो भी ईमानदारी से उसे करने को राजी होंगे उनके लिए परिणाम होने सुनिश्चित ईमानदारी शब्दों को थोड़ा समझ देना ईमानदारी से मेरा अर्थ है कि जो सच में है करेंगे उनका परिणाम निश्चित सिर्फ उन्हीं के लिए परिणाम नहीं हो सकेगा जो करेंगे ही नहीं उनके परिणाम की अपेक्षा नहीं की और किसी पात्रता के लिए मैं आपसे नहीं कह रहा हूं और दूसरी किसी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं सिर्फ एक पात्रता चाहिए कि जो मैं आज से कहूंगा इन चार दिनों में वो आप करें और जो मैं करने को कहने वाला हूँ वो कठिन नहीं है बहुत सरल छोटे से छोटा बच्चा भी उसे कर सकता है इसलिए आप ये भी न सोचें कि इतना कठिन हो कि हम न कर पाए कठिनाई अगर होगी तो वो आज से अपने प्रति बेईमानी होने में हो सकती है मेथड में विधि में कोई कठिनाई नहीं छोटे से छोटा बच्चा जो भाषा समझ सकता है वो भी कर सकता है सिर्फ आपके सहयोग की जरूरत है कि आप करें तो मैं आपको प्रयोग समझा दू सरल सा प्रयोग है सभी महत्वपूर्ण चीजें सरल होती हैं सिर्फ गैर महत्वपूर्ण चीजें कठिन और कठिन होती हैं सभी सबसे सरल होते हैं सिर्फ असत्य जटिल और कॉम्प्लेक्स होते लेकिन हम अजीब लोग अगर कोई चीज हमें बहुत कठिन और जटिल मालूम पड़े तो हम समझते हैं बहुत प्रफाउंड कोई बहुत गंभीर सत्य होना चाहिए ऐसा नहीं जीवन के सब सत्य दो चार जैसे सरल सिर्फ असत्य कठिन होते असत्य को कठिन होना पड़ता है क्योंकि अगर असत्य सरल हो तो पकड़ में आ जाएगा असत्य असत्य को बहुत चालबाजियों में गोल गेहूं घूमना होता है ताकि ये पता न चले कि वो असत्य सत्य सीधा और नर्म खड़ा हो जाता है वो जैसा है वैसा ही पर्याप्त उसे छिपने की मुंह छिपाने की चेहरे बदलने की कोई भी जरूरत नहीं है इसलिए दुनिया में जितनी कठिन बातें करी गई है आमतौर से असत्य दुनिया में जितनी सत्य बातें जुड़ी गई है आमतौर से सरल और सीधी चाहे उपनिषद हो चाहे गीता हो चाहे कुरान हो चाहे बाइबल चाहे बुद्ध और महावीर के वचन वे तो बिल्कुल सीधे दो दो चार की भांति ये जो प्रयोग मैं आपको करता हूं अत्यंत सरल परिणाम उससे बहुत हैरानी से भरने वाले इस प्रयोग में सात चरण दस दस मिनट के पहले तीन चरण में कुछ आपको करना है और चौथे चरण में आपको कुछ भी नहीं करना है परमात्मा की शक्ति कुछ करे इसके लिए सिर्फ प्रतीक्षा करनी पहले तीन चरण पहले दस मिनट तीव्र श्वास का प्रयोग है दस मिनट इस भांति श्वास लेनी है जैसे कि लोहार की झोंकनी चलती हो जितनी फास्ट हो सके जितने जोर से श्वास की चोट भीतर पहुंचाई जा सके श्वास का उपयोग हेमरिंग की तरह करना उसके परिणाम है एक तो जितने जोर से भीतर श्वास की चोट की जाती है हमारे शरीर में किसी भी प्राण ऊर्जा जबकि शायद आपको पता ना हो कि हम सबके शरीरों में हमारे शरीर में ही नहीं जीवन के समस्त रूपों में जो ऊर्जा स्थिति है वो विद्युत का ही रूप है इलेक्ट्रिसिटी का ही रूप है हमारा शरीर भी चल रहा है जिस शक्ति से वो विस्तृत का ही रूप है वो आर्गेनिक इलेक्ट्रिसिटी उसे हम करें वो जीवन से विद्युत है इस विद्युत को जितनी ज्यादा ऑक्सीजन मिले उतनी तीव्रता से जगती है इसलिए बिना ऑक्सीजन के आदमी मर जाए और बिल्कुल मरते हुए आदमी को भी अगर ऑक्सीजन दी जा सके तो हम उसे कोई और देगा सकते हैं इस दस मिनट में इतने जोर से सांस लेनी है कि आपके भीतर की सारी वायु बाहर चली जाए और बाहर से सारी वायु भीतर चली जाए आपके शरीर के भीतर ऑक्सीजन का अनुपात बदल बदल डालना है वो अपने आप बदल जाता है और चोट इतने जोर से करनी है कि शरीर में जो शक्ति सोई हुई है वो उठने लगे पांच मिनट के प्रयोग में ही कोई सात परसेंट लोगों के शरीरों के भीतर कंपन शुरू हो जाएगा वो आपको बहुत स्पष्ट मालूम पड़ने लगेगा कोई चीज वाइब्रेट करती हुई उठने लगेगी तो योग ने उसे कुंडली कहा है अगर हम विज्ञान से पूछेंगे तो उसे वो बॉडी इलेक्ट्रिसिटी कहेगा वो कहेगा वो शरीर की विद्युत है अभी अमेरिका में एक आदमी जिसके शरीर की विद्युत से बहुत अद्भुत प्रयोग हुए उसकी शरीर की विद्युत सामान्य ज्यादा है जितनी आमतौर से होगी वो एक विशेष प्रकार की श्वास का प्रयोग करने के बाद हाथ में पांच केंद्र का बल्ब लेकर उसे जला देगा स्वीडन में अभी एक स्त्री जिंदा है जिससे कोई भी छू नहीं सकता उस स्त्री का विवाह नहीं हो सकता तो उसको छूने से शाख वैसा ही लगेगा जैसा कि दीर्घ को छूने से ये थोड़े से इनके शरीर में विशेष विद्युत है और केमिकल थोड़े से फर्क है इसलिए ऐसा परिणाम लेकिन विद्युत है सबके तो शरीर में और अभी पहले दिन ही कम से कम सात प्रतिशत लोगों को सौ प्रतिशत को हो सकता है कोई कारण नहीं है लेकिन चालीस प्रतिशत आमतौर से प्रयोग नहीं कर पाते पीछे खड़े रह जाते ऐसा मेरा अनुभव है इसलिए सात की बात कह रहा हूँ लेकिन आप में से प्रत्येक से कहूंगा कि सात प्रतिशत में होना चालीस प्रतिशत में मत होना पांच मिनट के बाद ही आपके शरीर के भीतर कोई चीज कपती हुई उठती हुई मालूम पड़ने लगेगी शरीर एक नई शक्ति से बढ़ता हुआ मालूम पड़ने लगेगा दस मिनट पूरा प्रयोग करने पर आप इलेक्ट्रिफाइड हालत में हो जाएंगे सारा शरीर विद्युत का एक प्रवाह बन जाएगा स्वभाव का इसके परिणाम होंगे जब शरीर में जोर से वाइब्रेशन होंगे तो शरीर कपने लगेगा जोड़ने लगेगा नाचने लगेगा दूसरा जो प्रयोग है दस मिनट का वो शरीर को डोलने नाचने या शरीर को जो भी करना है उसे करने की पूरी छूट दे देने का है उसके परिणाम कैटेलिटिक हमने अपने शरीर में न कितने तरह के दमन कर रखे हैं मन में भी बहुत तरह के प्रश्न कर सकते हैं जो व्यक्ति भी ध्यान में जाना चाहता है उसे पहले इन दमन से मुक्त हो जाना जरूरी है क्रोध आया है मैं क्रोध को पी गए वासना आई है मैं वासना को दौड़ा लिया चिंता आई है मैं चिंता को पी के सो गए हमने नमाजों को कितना मन में छिपा लिया है जब रोना चाहता है तो रोए नहीं हंसना चाहे तो हंसे नहीं चिल्लाना चाहे तो चिल्लाए नहीं नाचना चाहे तो नाचे नहीं वो सब में दबाया हुआ है मन और शरीर दोनों में हजार करने के दमन इकट्ठे हो गए वे दमन न गिर जाए तो मन इतना हल्का नहीं हो सकता कि उड़ान भर सके इसलिए दूसरे दस मिनट में शरीर के साथ पूरी की पूरी स्वतंत्रता और सहयोग करना है शरीर नाचना चाहे तो उसे पूरी तरह नाचने देना है चिल्लाना चाहे तो चिल्लाने जाना है रोना चाहे तो रोने देना है शरीर जो भी करना चाहे सिर्फ अपने शरीर के साथ दूसरे शरीर के साथ नहीं अपने शरीर के साथ जो भी करना चाहे उसे पूरी स्वतंत्रता और सहयोग दे देना है कोई सात प्रतिशत लोग अचानक अपने भीतर बहुत कुछ होता हुआ पाएंगे जिन मित्रों को ऐसा लगे कि उनके भीतर तो कुछ भी नहीं हो रहा है तो उनसे मैं कहूंगा कि वो आज कम से कम जिनको जिनको अपने आप हो जाएगा तो उनका प्रश्न नहीं अधिक लोगों को अपने आप हो जाएगा जिनको लगे कि उनके अपने आप नहीं हो रहा है तो उसका कारण तो इतना ही है कि वो इनहिबिशन में अपने दमन में इतने मजबूत है कि बीच की परत उन्हें भीतर तक नहीं पहुंचने दे रही तो उनसे मैं कहूंगा कि वो इसके न करें उनको न हो रहा हो तब भी जो उनसे बन सके वो दस मिनट करें अगर उनसे नाच से बन सके तो नाच करें कोई विधि व्यवस्था और गति की बात नहीं उनसे चिल्लाते बन सके तो वो चिल्लाते रहे कल ही वो पाएंगे कि उनकी धारा टूट गई और स्पॉन्टेनियस उनके भीतर से प्रवास शुरू हो गया इस दस मिनट के बहुत गहरे परिणाम इस दस मिनट के नाचने चिल्लाने डोलने रोने हंसने के बाद आप इतने घंटे हो जाएंगे जैसे शायद आप जीवन में कभी नहीं हुए पहले चरण में आपके शरीर में जो विद्युत जगेगी वो आपको सहयोग देगी नाचने में चिल्लाने में रोने में हंसने में वो आपको सहयोग देगी और आपको भी अपनी तरफ से कोऑपरेट करना और जो भी आपके भीतर हो उसको पूरी तरह होने देना है अगर आपका हाथ इतना हिल रहा है तो आप इसे और पूरी तरह हिलाते कि हाथ के भीतर जो भी वेद दमित है वो निष्कासित हो जाए उनकी निर्जरा हो जाए इस प्रयोग से चार दिन में इतना हो सकेगा जो कि चार वर्ष में किसी साधारण प्रयोग से नहीं हो दूसरे चरण के बाद आपका शरीर वेटलेस मालूम होगा जिससे बिल्कुल हल्का हो गया है जिससे उठ सकता है दो ही बातें मालूम होंगी पहले चरण के बाद शरीर शक्ति से भरा हुआ मालूम होगा दूसरे चरण के बाद शक्ति पूरी मालूम होगी लेकिन शरीर एकदम वेटलेस और हल्का हो गया होगा दूसरे चरण के बाद आपको स्पष्ट ऐसा लगना शुरू हो जाएगा कि शरीर नहीं है बल्कि सिर्फ एनर्जी सिर्फ ऊर्जा सिर्फ शक्ति इस दूसरे चरण में जिसका भी प्रयोग पूरा हो जाएगा उसको एक हैरानी का अनुभव होगा और वो होगा तो उसे पहली तो से मालूम पड़ना शुरू होगा कि शरीर अलग है और मैं अलग हूं अगर आपने अपने शरीर को पूरा छोड़ दिया तो आपकी आइडेंटिटी टूट जाएगी ये आज ही हो जाएगा सिर्फ सवाल इतना है कि आप उसको पूरा कोऑपरेट करें आप अपनी तरफ से रोक ना आप ये ना सोचें कि मैं नाचूंगा तो कोई क्या कहेगा मैं चिल्लाऊंगा तो कोई क्या कहेगा जो आपके भीतर हो रहा है उसे आप बिल्कुल सबकी फिक्र छोड़ हो जाने दें तो आप दस मिनट के भीतर जो निरंतर सुना है पढ़ा है कि शरीर और मैं अलग हूँ वो आपके अनुभव का हिस्सा बन जाए नाचता हुआ शरीर आपको अलग दिखाई पड़ने लगेगा आप साक्षी हो जाएंगे शरीर नाचता है आप साक्षी हो जाएंगे शरीर रो रहा है आप बहुत साफ देख सकेंगे कि कोई और हंस रहा है और मैं देख रहा हूं ये प्रकृति ज्ञान की गहराई में ले जाने के लिए अनिवार्य द्वार है इसके बिना कोई ध्यान में नहीं जा तीसरे चरण में जब दूसरे चरण में ये घटना घट जाएगी कि शरीर अलग और मैं अलग से तो स्वाभाविक प्रश्न मन में उठना शुरू होगा कि फिर मैं कौन क्योंकि अब तक मैं अपने को शरीर मानता हूँ श्वास मानता हूँ अब शरीर और श्वास बिल्कुल अलग दिखाई पड़ रहे हैं फिर मैं कौन इस तीसरे चरण में दस मिनट तक हम अपने भीतर पूछेंगे कि मैं कौन हूँ पहले दस मिनट में तीव्र सांस दूसरे दस मिनट में शरीर के साथ तीव्र सहयोग और तीसरे चरण में मैं हूँ की तीव्र वर्षा भीतर इतने जोर से पूछना है कि पैर से सिर तक एक ही सवाल पूछने लगे कि मैं कौन और शरीर की विद्युत जगी हुई होगी आपके सवाल को विद्युत की तरह में पकड़ लेंगी और पूरे शरीर के कंपन में प्रश्न पूछने लगेगा मैं कौन इसे इतने जोर से पूछना है कि दो मैं कौन हूं के बीच में जगह न बच जाए इसे इतनी शक्ति से पूछना है कि कुछ और सोचने का न समय बचे न शक्ति बचे न सुविधा बचे बस दस मिनट एक सवाल रह जाए पांच मिनट तेजी से भीतर पूछने के बाद बहुत से मित्रों की आवाज बाहर निकलने लगी तो उससे भयभीत नहीं होना है मैं कौन हूं शुरू तो भीतर करना है अगर चिल्ला से बाहर आवाज निकलने लगे तो उसके बाहर भी निकलने देना उसकी कोई फिक्र नहीं करनी तीस मिनट में आपका शरीर थक जाएगा आपकी प्राण शक्ति थक जाएगी आपकी मन शक्ति थक जाएगी ये तीन चरण तीनों को थका डाले और तीस मिनट में इतनी क्लाइमेक्स तक आपको पहुंच जाना है तनाव टेंशन है इतने जोर से ये सब करना है कि तीस मिनट में जैसे आप बिल्कुल मुर्दा होकर गिर पड़े तीस मिनट बाद में आपको कहूंगा कि बस अब रुक जाए कोई बैठा होगा कोई गिर गया होगा कोई खड़ा होगा जो जैसा होगा वो वैसे ही रह जाएगा उस समय आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है गिर गए हैं तो गिरे रह जाएंगे बैठे हैं तो बैठे रह जाएंगे खड़े हैं तो खड़े रह जाएंगे ऐसा नहीं कि आप खड़े हैं तो बैठ जाए अपनी तरफ उस समय जो हालत आपकी हो आप उसी में रह जाएंगे और 10 मिनट सिर्फ प्रतीक्षा करेंगे कि क्या हो रहा है उस 10 मिनट में बहुत से अनुभव होंगे उस 10 मिनट में शांति का अनुभव तो सहज ही सभी को होगा आधे से ज्यादा मित्रों को आनंद की भी प्रती होगी उससे भी ज्यादा मित्रों को प्रकाश का अनुभव होगा कुछ मित्रों को रंगों के अनुभव होंगे कुछ मित्रों को सुगंध का अनुभव होगा बहुत थोड़े से एक दो मित्रों को स्वाद का अनुभव होगा और फिर भी भिन्न भिन्न अनुभव प्रत्येक को होंगे इन अनुभव की धारा भीतर रहने लगेगी उसे साक्षी भाव से देखते हैं ये अनुभव आध्यात्मिक नहीं ये अनुभव मानसिक ही है लेकिन अध्यात्म की तरफ गति हो रही इससे सूचक ये भी खो जाएंगे कुछ मित्रों के काबिल भी खो जाएंगे सिर्फ शून्य रह जाएगा और उस शून्य में जिसे हम निराकार परमात्मा कहें ब्रह्म कहें आत्मा कहें उसकी क्या शब्द प्रयोग किया जाए उसकी अनुभूति उसका स्वाद उसका रस अनुभव ध्यान शुरू होगा ये सहज हो जाएगा अगर आपने तीन चरण पूरे किए अनेस्टली ईमानदारी से क्योंकि वो आपकी जानकारी की बात है उसका दूसरे से कोई संबंध नहीं आप खड़े रह सकते हैं पैर नाचना चाहे आप न नाचे तो पैर रुके रह जाएंगे प्राण चिल्लाना चाहे आप न चिल्लाएं तो नहीं चिल्लाएंगे रुके रह जाएंगे आप धीरे धीरे मैं कौन मुर्दे की तरह भीतर पूछते रहे तो वो पैदा नहीं हो पाएगी जो जरूरी पानी को गर्म होना हो तो सौ डिग्री तक गर्म करना जरूरी तब वो भाप बनता है अंठानबे डिग्री पर भी भाप नहीं बनता निन्यानबे डिग्री पर भी भाप नहीं बनता आप परमात्मा से ये नहीं कह सकते कि सिर्फ एक डिग्री की इतनी ताकि क्यों कर रहे हैं निन्यानबे डिग्री हो गया भाप बना एक डिग्री की तो बात है निन्यानबे डिग्री तक आ गए एक डिग्री कितनी कंजूसी जो कर रहे लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सौ डिग्री पर ही पानी बाहर बनेगा अगर निन्यानबे डिग्री तक भी जाके आप रुक गए तो गर्म पानी में रहकर वापस ठंडे हो जाएंगे ठीक प्रत्येक के भीतर एक क्लाइमेट की स्थिति है जहां से जीवन में पूर्व गमन शुरू जहां से क्रांति शुरू होती जहां से निर्देशन शुरू होता है जहां से व्यक्ति मिलता है और परमात्मा शुरू होता है अगर आप उस सौ डिग्री तक नहीं पहुंचे तो आप वापिस नीचे ले जाएंगे और मेहनत बिल्कुल व्यर्थ हो जाएगी उसका कोई अर्थ नहीं रह जाए इसलिए मैं आपसे कहूंगा ईमानदारी से जो मैं कहूँ उसे पूरा करके देख ले इसमें श्रद्धा की कोई भी जरूरत नहीं है एक हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंट करके देखने हम देखें इससे क्या हो सकता है चार्ज करके देखें और जो लोग भी ईमानदारी से करेंगे वो श्रद्धा को उपलब्ध हो जाएंगे श्रद्धा पहले से जरूरी नहीं आपको विश्वास करने की जरूरत नहीं है जो मैं कह रहा हूँ वो होगा ही आपको तो इतना ही मान के चले कि ये व्यक्ति कुछ कह रहा है इसे करके देखने हो तो ठीक न हो तो समझे की गलत और अगर आपने किया बैठने में लिखने से लेकिन सौ डिग्री पर पानी गर्म हो जाता है किसी के विश्वास की जरूरत नहीं है विश्वास से पानी गर्म नहीं होता आप चाहे अविश्वासी हो नास्तिक हो कोई फर्क नहीं पड़ता पानी गर्म करिए सौ डिग्री पर आप बनेगा मैं जिस ध्यान की बात कर रहा हूँ वो बिल्कुल साइंटिफिक बात है आप नास्तिक हो ईश्वर को ना मानते हो आत्मा को ना मानते हो धर्म को ना मानते हो कोई अर्थ नहीं मानने की कोई जरूरत ही नहीं आप प्रयोग को करें और आप पाएंगे कि उस प्रयोग के अनुभव से आपके भीतर स्पर्श होना शुरू हो गया श्रद्धा ध्यान का फल प्राथमिक स्तर नहीं वो आखिरी परिणाम पहली पहली शर्त नहीं आपने समझ लिया दो तीन बातें और आपसे कर दूंगे प्रयोग प्रयोग करें जो लोग बीमार हों मेरे पास लोग खड़े होकर ही मेरे खड़े होकर जल्दी बनी होते हैं पैकेट में जल्दी बनी होती सारे लोग हाथ पर खड़े होंगे गए हम जगह काफी है ताकि आप नाचते लगेंगे किसी को आपके द्वारा धक्का न लगे और किसी को धक्का लग जाए किसी परेशानी नहीं लेनी है दूसरी बात जैसे ही प्रयोग शुरू होगा उसके पहले दो बातें मैं आपको आंख बंद करने के कहूंगा और ये आंख चालीस मिनट तक बंद रखिए ये आपका पहला संकल्प होगा उसे भी ईमानदारी से निभाना एक दफे भी आंख खोली तो नुकसान होगा आपके भीतर जो ऊर्जा इकट्ठी होगी वो ऊर्जा खराब हो जाएगी हमारे भीतर इकट्ठी का अधिक हिस्सा हमारी तो आंख से बिखर रहा है इसलिए चालीस मिनट आंख बिल्कुल ही बंद रखनी है जब तक मैंने कहूं तब तक आपको आंख नहीं खोलनी आपके आसपास चिल्लाना होगा रोना होगा नाचना होगा आपके भीतर होगा आपको किसी छोड़ देंगे देखने की इच्छा होगी हमारे भीतर का बच्चा जल्दी नहीं मर जाता जितने जल्दी शरीर बदल जाता है उतने जल्दी भीतर का बच्चा नहीं मर जाता वो जानना चाहेगा कि बदल का आदमी क्या करता है तो उसके लिए मैंने फिल्म बुलवा दी है अभी आज फ्रेंच में बनी तो रात आपको फिल्म दिखा देंगे उसमें आप पूरा देखेंगे कि कौन क्या करता है तो आपकी जिज्ञासा तृप्त हो जाएगी इसलिए आप अभी फिक्र न करेंगे कि कौन क्या कर रहा है किसको क्या हो रहा है बात फिल्म देख लेंगे यहाँ देखने वाला कोई भी नहीं रुकेगा अगर किसी को सिर्फ देखना हो तो वो यहाँ कैंपस के बाहर हो जाएगा या तो वो दूर पीछे चला जाएगा लेकिन यहां नहीं बैठ सकेगा यहां एक भी आदमी जो ध्यान नहीं कर रहा हो उसे अलग हो जाना उसकी मौजूदगी हमारे सब मित्रों को वातावरण उससे यहां से हट जाना है न केवल आपके भीतर बिल्कुल पैदा होती है पूरा एटमोस्फेयर चार्ज होता है उसमें एक आदमी भी अगर व्यस्त खड़ा है को तो वो नुकसान करता है और वो चेन को तोड़ता है उसकी जरूरत नहीं इसलिए वो ख्याल से जिनको भी नहीं करना हो वो यहाँ खड़े नहीं रहे वो स्टार्ट करे रहेंगे ये कुर्सियां जो है ये आप उठाएंगे और कुर्सियों हटा दें वहां से पीछे क्योंकि तो उनको कोई गिर जाएगा तो नहीं होगा